नहीं बताया वो हम बता रहे ये केला बनाने के लिए कि हम तुमको गुप्त से गुप्त बताते हैं साधुओं ने आपस में हो सका इसलिए जितने हीरे छिपे हुए थे वो सब उठा के बाजार में फेंक दिए गए लेकिन भाई मेरे बिना सेवा के विद्या संभव असूय काय अंग्रजे शिष्य दोषदर्शी न हो सरल चित्त हो अनुगत हो तब उसको बताना विद्या वही ब्राह्मण मार्गाम गोपाय मां देवदिस्ते हम मेरे वेद का मंत्र है ब्राह्मण के पास विद्या है विद्या ही ब्राह्मण के पास और बोले देखो मैं तुम्हारा खजाना हूँ ब्राह्मण देवता मेरी रक्षा करना मुझे छिपा के गुप्त रखना मैं तुम्हारा खजाना हूँ ने किया जो दोषदर्शी हो उसको मत बताना जो सरल चित्त न हो उसको मत बताना जो अनुगत न हो मत बताना और आज तो समय ऐसा आ गया ना कि अब हमारे बड़े भाई जैसा बता गए हैं आप लोगों को उसके आगे की बात आपको न बतावे तो समझ में ही नहीं आता बोले अरे ये तो थोड़ी मोटी बात बता खेल खिलौने की बात बता दें आपका बंधन क्या है अयम वही से बंधन बंधन हो जैसे रस्सी से बांधते हैं जंजीर से बांधते हैं हाथ को रखड़ी से बांधते हैं पांव को बेड़ी से बांधते हैं हाँ। ये बाघ बोल जो होता है ना उसको बंधन बोलते हैं ये बध और बंधन कैद में पढ़ना बंधन है बांधना बंधन है और मरना बंध है बंधन और बध तो दोनों सजा लेके आ गए थे बोले कहा बंधन है हमारे तो बंधन रस्सी का बंधन नहीं होता मन का बंधन होता है आप मन से बन गए कहा बन गए बोले महाराज सत्संग में क्यों नहीं आते बोले घर पे कोई नहीं रहता है कोई देखने वाला चाहिए ना बात तो बोले भाई ऑफिस में जाना है हमारा आज रात को बहुत देर जगते हैं तो सवेरे बंधन कहा कोई तुमको बांध कर नहीं रखता है तुम अपने मन से स्वयं कहीं बंध जाते हो तुम्हें बंधन स्वीकार है तो धन का बंधन है मकान का बंधन है स्त्री का बंधन पुत्र का बंधन है तो नहीं अपने मन का बंधन इस शरीर के बिना मैं कुछ नहीं बध है ये बंधन नहीं है तो बध है बध माने अपने को मार डाला ये शरीर मरेगा तो मैं मरूंगा जो तुमने स्वयं अपने को मौत के हवाले कर दिया अयमेव ही ते बंधा ही जता ही से माने तव अयम एव नान्य माने दूसरा नहीं एक ही बंधन है तुम्हारे जीवन में दूसरा नहीं तुम समझते हो कि दृष्टा कोई दूसरा है इतरम दृष्टारम पश्यत क्या मतलब देखो हमको कोई दूसरा देख रहा है तो सिपाही चोर को ये डर रहता है ना कि सिपाही हमको देख रहा है, नहीं? और व्यविचारी को डर रहता है कि परिवार वाले पड़ोस वाले हमको देख रहे हैं चीला लोग क्या करते हैं दूसरे को तो गुस्सा होते हैं डांट देते हैं उस पर गुस्सा भी करते हैं नुकसान भी पहुंचाते हैं और सब गुरु जी कहीं देख न गए गुरु जी अरे हमको बहुत मालूम है बोला संस्कारम प्रत्यक्षी तरम दूसरा हमको देख रहा है माने दूसरा जीव हमको देख रहा है दूसरे जीव को दृष्टा और इतरम दृष्टारम प्रत्यक्षी ईश्वर हमको देख रहा है अब ईमानदारी की बात क्या है ईश्वर हमको देख रहा है कि नहीं ये तो ईश्वर जाने उस पर हम ईश्वर को हैं हाँ। हम अपने मन में ईश्वर को लाल लाल बनाते हैं देखते हैं काला काला बनाते हैं देखते हैं बच्चा बनाते हैं देखते हैं जवान बनाते हैं देखते हैं अरे यहाँ तक बाबा ईश्वर नित्य निवृत्त निकुंज में शिव के राधा जी के साथ विहार करता है तो वो तो हमको देखता नहीं और हम छिप के उसको देखते हैं ऐसी साधना करते हैं कि वो जो कुंज बना हुआ है उसमें जो पत्तों के बीच बीच में से जगह है उसमें से हम ऐसे आंख लगा के देख रहे हैं तो राधा कृष्ण बिहार कर रहे हैं भले मानुष तुम देख रहे हो ईश्वर जगत का जगत को तुम देख रहे हो जगत के स्वामी को तुम देख रहे हो जगत को तुम देख रहे हो जगत कर्ता को तुम देख रहे हो जगत को तुम देख रहे हो जगत रक्षक को पालक को तुम देख रहे हो जगत को तुम देख रहे हो जगत के संघर्ता को तुम देख रहे हो ईश्वर के ऐश्वर्य को तुम देख रहे हो और ऐश्वर्यशाली ईश्वर को तुम देख रहे हो इतरम दृष्टारम थी दृष्टारम इतरम थी तुम दृष्टा को अपने से कुछ अलग देखते हो सबको देखने वाले तुम हो तुमको देखने वाला कोई नहीं जब तुम अपने को शरीर मानते हो तब दृष्टा चेतन अलग मालूम पड़ता है दूसरे जीव को दृष्टा मानना एक अपने को भी जीव मानकर दृष्टा मानना दो तो ईश्वर को दृष्टा मानना तीन और ये जड़ता में ही एक बुद्धि पैदा होके सबकी कल्पना करती है ये चार न ये दृष्टापना जड़ता का विकार है और न तो देहाभिमानी जीव का धर्म है न देहाभिमानी आत्मा का धर्म है न समष्टि के कर्ता हर्ता हत्ता का धर्म है ये दृष्टा तो अपना स्वरूप है अपना हाँ, महाराज ये दृष्टा कौन होता है अरे तुम्हारा ही एक नाव हो भाई है ना गांव के महात्मा ऐसे दृष्टा कौन है अरे तुम्हारा ही तो एक से नाव हो है ना तुम्हार नाव हो दृष्टा बाबू जी समझे जैसे आपका आप नाम है जैसे आपका शुभ नाम है ये मोहनी बहन सोहनी बहन है ये मोहन भाई सोहन भाई ये तो पैदा होने के बाद तुम्हारा नाम रखा गया है ना माँ के पेट में तुम्हारा क्या नाम था ये ही नहीं मालूम था कि बेटा है कि बेटी अच्छा बाप के पेट में तुम्हारा क्या नाम अंगूर में बादाम में जौ में गेहूं में मटर में चने में तुम्हारा क्या नाम था कौन सी जाति थी कौन सा मजहब क्या राष्ट्रीयता थी तुम्हारी ओ मराठे लोग तो सबसे बढ़िया होते हैं मारवाड़ी लोग तो बालू में से पैसा निकाल लेते हैं है? क्या जानती हो जब बाप के पेट में नहीं आए थे तो तुम्हारा मजाक कौन सा था बाद में ओढ़ा है ना तुमने बाद में ओढ़ी हुई खोल का नाम शरीर होता है फिर उसमें जाति होती है उसमें मजहब होता है उसमें भाषा होती है पहले तो संस्कृत बोला करते थे कि अंग्रेजी अब चाहे सिर फोड़ लो हिंदी अंग्रेजी के नाम पर चाहे सिर फोड़ो चाहे सिया सुन्नी के नाम पर फोड़ो अब चाहे कैथोलिक और क्या हो प्रोटेस्टेंट के नाम पर सिर फोड़ो चाहे सयू वैष्णव के नाम पर सिर फोड़ो क्या थे तुम तो? ये सारे झगड़े झगड़े जो हैं ये इस हड्डी मांस जाम में मैं जोड़ने के बाद पैदा हुआ और तब तुम बन गए बंधन सारा का सारा दृष्टा आत्मा को कोई परोक्ष मानने के कारण है प्रत्यक्ष मानने के कारण परोक्ष मानने के कारण कल्पित मानने के कारण अज्ञात मानने के कारण जो कि तुम खुद हो स्वयं हो उसको जब अन्य मान बैठे इतर इतरा सब ये मंत्र है और यही बंधन अयम एव में जो एव है ना एव माने अवधारण यही तुम्हारा बंधन है माने इसके सिवाय मकान ने तुमको नहीं बांधा है परिवार ने तुमको नहीं बांधा है मजहब ने तुमको नहीं बांधा है जात ने तुमको नहीं बांधा है शरीर ने तुमको नहीं बांधा है मन ने भी तुमको नहीं बांधा है माया ने नहीं बांधा है अविद्या से भी तुम्हारा बंधन नहीं है बंधन है ही नहीं ईश्वर ने भी तुमको नहीं बांधा अब अस्तुना बंधा होगा जो चीज है ही नहीं वो तुमको बांधेगी कहां से ये संत दर्शन का सूत्र है अब अस्तुना बंधा होगा वस्तुत्व सिद्धांत आने हैं और यदि कहो कि वस्तु है और वो बांधती है तो अद्वैत सिद्धांत ही नहीं रहा सिंहासन तो छूटता जैसे है नेताओं मंत्रियों की कुर्सी नहीं छूटती है ऐसे तुम भी इस देह को अपनी कुर्सी बना के बैठ गए हो जैसे एक मिनिस्टर का कुर्सी से हो वैसे तुम्हारा इस शरीर से हो वो है और कुछ अब देखो तुम किस कुर्सी पे बैठे हो तुम्हारी कुर्सी बहुत गंदी है ये आचारण लोग होते हैं वो तो सोना चांदी का सिंहासन बना के बैठते हैं पत्थर वत्थर लगाते हैं उनको भी उतारना चाहो तो उतरेंगे नहीं मार देंगे डंडा मारेंगे संस्था जो लोग बनाते हैं महाराज ऐसे ऐसे मुकदमे लड़ते हैं संस्था के लिए संस्थाएं थोड़ी मानते हैं एक ने महाराज बुलाया एक साधु को बहुत बड़ी सभा करवाऊंगी उस साधु से और बुलाने वाले उस संस्था के मालिक से झगड़ा हो गया नहीं पटे उस संस्था वाला क्या बोलता है देखो महाराज जैसे मदारी खजड़ी बजाता है ना वैसे हमने आपको खजड़ी बजाने के लिए बुलाया था कि आप हैं खजड़ी हमारी ये खचड़ी बजेगी लोग इकट्ठे होंगे तो हम अपनी संस्था के लिए चंदा करेंगे अब तुम ही लेने लग जाओगे तो क्या होगा हाँ, हाँ, हम तुमको नहीं देंगे लड़ाई हो गई हाँ, साधु महात्मा तो खजड़ी है खजड़ी जैसे मदारी खजड़ी बजाता है अयम एवं ही ते बंधा बंधन कहा है तुम्हारा तुम अपने को एक संस्था के साथ एक कुर्सी के साथ एक सिंहासन के साथ हाँ, एक देश के साथ बांध लेते हो यही तुम्हारा कथन है कि तुम दृष्टा को चेतन को कोई परोक्ष समझते हो कोई कल्पित समझते हो जो तुम स्वयं हो अपनी स्वयंता को न जान करके अपनी स्वयंता को न जान करके तुम दूसरे को चेतन समझते हो ये दोष अयमेवते बंधो द्रष्टारम पश्यति करम पश्यति का यदि हम वो करें पोस्टमार्टम जैसे मुर्दे का पोस्टमार्टम डॉक्टर लोग करते हैं ना पश्यति शब्द है वो तो संस्कृत के जो पंडित हैं वो समझ जाए ये धातु है दृश्य जिसका दृश्यते बनता है दृश्यते उसका कर्ता में होता है पश्यति तो कहा क और कहा प स्त्री की जगह दृश्य की जगह स्पर्श बन गया स्पर्श दृश्य का स्पर्श होना ये क्या हुआ इसका नाम हो गया विवर्त आंख के द्वारा देखते हो मन के द्वारा देखते हो बुद्धि के द्वारा देखते हो कोई रंगीन चश्मा लगा के तुम अपने को देखते हो तो दूसरे मालूम पड़ते हो शीशा सामने देख लिया मालूम हुआ ये है शीशे में अपने को देखते हो अंतकरण के शीशे में अपने आप को देखते हो और फिर अपने को भूल जाते हो और अंतकरण में दिखने वाले को सच मानते हो भ्रष्टारम पश्यसी तरह जो फिल्म में दिख रहा है वो तुम नहीं हो जो कैमरे में दिख रहा है वो तुम नहीं हो जिसका प्रतिबिंब कैमरे में पड़ रहा है फिल्म में पड़ रहा है वो तुम अहम सर्वे हम मान महाकृष्णादम स्थित नाहं कर्ते विश्वासामृतम दीवा मैं करता हूँ क्या क्या किया है आपने तो मैंने धन कमाया धन कमाने वाला मैं करता हूँ तो मैंने मकान बनाया मैं करता मैंने विद्या पढ़ी है तो मैं करता हूँ तो मैंने विचार कर करके कर करके हम भी कभी तो कभी बोलते हैं जिस रात में पक्षी भी शांति से सो जाते हैं उस रात को जाग जाग के उस रात में जाग जाग के मैंने ब्रह्म का विचार किया मछलियां भी सो जाती हैं परिंदे भी सो जाते हैं मैंने अपनी माँ से छिपा के पत्नी से छिपा के और पता न चले क्या कर रहे हैं वो तो ब्रह्म का विचार कर रहे हैं तो अल्लाह नहीं तो हुआ कहा आए विचार कहा जैसे आसमान में दूर होती है वैसे अंतकरण में विचार होते हैं मैं विचार करने वाला कौन होगा जैसे आसमान में कोई फिल्म दिखे और कोई कहे कि हमने बनाई है आसमान में दिखने वाली फिल्म को कोई कहे मैंने बनाई है वैसे हृदयाकाश में दिखने वाली और विचार के फिल्म को कल्पनाओं को मनोराज्य को हम सोचते हैं हमने बनाया है बिल्कुल झूठा है वो अहम करते हम मानो मैं करता हूँ ये जो अहम मान है अभिमान है ये क्या है ये महामोहा ही महाकृष्णा ही दंसिता बड़ा भारी काला सांप है ये और इसने हमको डर मैं मैं मैं ये मैं भी खाली नहीं रहता अच्छा, एक देखो आपको वेदांत की बात सुनाता हूँ मैं देह हूँ ये अभिमान कभी किसी को नहीं होता जब होगा तो ऐसे होगा हाँ, बेगम साहब के सामने बोलेंगे मैं तुम्हारा पति हूँ पति बने का अभिमान होगा पत्नी बने का अभिमान होगा धनी बने का अभिमान होगा या ये तो द्रव्य है ना द्रव्य हमारा पचास कोष का राज्य है का ये अभिमान होगा हमारी अस्सी बरस की उम्र है ये अभिमान कुछ जोड़ना पड़ेगा वो अभिमान है अच्छा ये तो है द्रव्य मूलक अभिमान देश मूलक काल मूलक क्या समझते हो हमारी राष्ट्रीयता क्या है मैं वृंदावन वासी ये देश का अभिमान पान हमारी उम्र अस्सी बरस की मैंने इतना पढ़ा है विद्या का ये तो भाव मूलक द्रव्य मूलक बुद्धि मूलक फिर होता है कल्पित अभिमान हो शास्त्र द्वारा कल्पित परंपरा द्वारा कल्पित मैं ब्राह्मण ये परंपरा द्वारा कल्पित स्थान है और मैं सन्यासी हूँ ये संस्कार द्वारा कल्पित स्थान है ये क्या है ये महामोह महाकृष्णा इदम सिता अहम करते हम मान महाकृष्णा हितम सिता ये अहम मान क्या है महाकृष्ण साप काट लिया हो कहा तुम परिपूर्ण अपरिचित स्वरूप देखो बाबू हाँ, इसके लिए अनुभवी पुरुष की शरण करो गाने का मजा दूसरी चीज है नाचने का मजा अभिनय करने का मजा बाजा तो खैर बाहर रहता है और गाते हैं भीतर से और नाचते हैं शरीर से इन तीनों में फर्क मालूम पड़ा तो नहीं तबला बाहर रहता है वो और स्वर गाने का स्वर गाना मुंह में रहता है तबला बाहर रहता है गाना गले में रहता और अभिनय और वो नाचना शरीर में हो कमर ऐसे और टुटी ऐसे और आंख ऐसे हस्तक ऐसे वो शरीर में रहता है अभिनय जो है ना अभिनय ये स्वांग में रहता है स्वांग उसमें मन में हम अपने को ऐसा दिखावे हाँ, मन में रोना नहीं है रोते हुए दिखावे मन में हंसना नहीं है हंसते हुए दिखावे ये मनुष्यों का जो जीवन है ना ज्यादा करके पार्थ करने में बीतता है एक माँ है अपने बेटे के सामने दूसरा पार्क करती है पति के सामने दूसरा पार्क करती है एक बहू है अपनी सास के सामने दूसरा पार्क करती है और अपने दोस्त के साथ दूसरा पार्क करती है बेटे के साथ पार्क सारा जीवन जो है ये पार्क करने में बीतता है ये धरती रंगमंच है और उस पर आप अभिनय करते हैं गुरु के सामने बोले हाँ महाराज हाथ चेला आया तो बोले आओ बेटा आशीर्वाद दे ये है वो चेले का पार्क है गुरु का पार्क है तो बजाना गाना नाचना और पार्क करना आप अपने जीवन पर कभी अपनी ओर तो देखो भाई अपने इस शरीर की ओर तो देखो त्यागी बाबा को है ना त्यागी बाबा को औरत के साथ बात करने में मजा आता है और दूध जी के महल बनते हैं हाँ, ब्रह्मचारी जी की बेटी होती है स्वामी जी के बेटा होता है यही बनवा है हाँ। त्यागी बाबा के बैंक बैलेंस होता ये दुनिया क्या है पार्क है हाँ, तुम अपने पार्क में कितने निपुण होते है ना ये अहम भाव है और ये हम भाव तुमको ऐसा पकड़े हुए हो दंशिता इसका ऐसा नशा चढ़ा ऐसा काटा इसने कि होश आता नहीं नाहम करते विश्वासा व्रतम पीतवा सुखी भव हमको एक महात्मा ने पहले बताया तुम्हारे बारे में जो कोई जो कुछ कहे उसको कहने दो जवाब देने की जरूरत नहीं दुनिया में जो हो उथल पुथल हो उत्थान पतन हो राज्य बने और बिगड़े है ना सब एक ही तराजू के चट्टे बट्टे होते हैं हम जो समझते हैं कि ये राज्य अच्छा और वो बुरा और वो अच्छा ये बुरा है ना ये हम अपने मन की पार्टी बंदी के कारण होते हैं ये राष्ट्र रक्षा वो राष्ट्र अरे हमारा है लोग लाते हैं महाराज ये हमारे बगीचे का अमरूद है अरे भाई बाजार में इलाहाबादी ऐसे बढ़िया अमरूद बनते हैं बोले नहीं महाराज ये हमारे खास बगीचे का अब अपने बगीचे का है इसलिए खराब खाओ और बाजार में इलाहाबादी बढ़िया दिल से है उसको मत का ये हमारा ये हमारा ये हमारा हमारे मन से माधुर दिया गया उसमें सुंदर दिया गया तो वस्तु का नहीं है वो चीज की मधुरता नहीं है सुंदरता नहीं है वो अपने मन के मेरे मन की सुंदरता है दाहन कर दे आओ जरा विश्वास में आओ निश्चय करो क्या निश्चय करो नाहम करते थी जो बोला जाता है बोलने दो जो हो रहा है होने दो दुनिया में जो हो रहा है होने दो रूस में जो होता है होने दो अमेरिका में जो होता है होने दो चीन में जो होता है होने दो और जो कहा जाता है तो कहा जाने दो और जो मालूम पड़ता है उसको मालूम पड़ने दो और तो, अरे न मैं करता हूँ न बोलता हूँ न भरता हूँ न हरता हूँ दूसरा है ही नहीं उसके साथ हमारा संबंध क्या होगा आओ इस विश्वासामृत निश्चयामृत में स्थिर हो जाओ दुख नहीं है तुम्हारे जीवन में दुख नहीं है वो सुख ही सुख है जब तुम कुछ चाहते हो कि ऐसा हो जब तुम कुछ चाहते हो कि हम ऐसा करें जब तुम कुछ चाहते हो कि हम ऐसा भोगें जब तुम चाहते हो कि हमारे बारे में ऐसा बोला जाए तब ऐसा न होने पर दुख होता है बता दिया मार क्या इस मैं अष्टावक्र गीता पर एक विस्तृत गीता लिखवा रहा था पहले छोटी तो है छोटी तो पूरी पर लिखवाई है वो तो हमारे स्वामी प्रबोधानंद जी महाराज हैं गुरुकुल में प्राध्यापक थे में हैं अभी जिंदा है अच्छे महात्मा है तो उन्होंने लिखा तो मैंने पूरे पर लिखवा दिया फिर मैं विस्तार से लिखवाने लगा हूँ तो एक एक श्लोक पर दो दो तीन तीन के यही श्लोक आ गया हमारा ये सातवा अब आजकल वृंदावन में जो बड़े भारी महात्मा हैं बड़ा भारी आश्रम है वो मेरे पास रहते हैं बाबा हिंदास जी उनका नाम बड़े भारी रसिक राज हैं रसिक श्रोत तो हमारे पास रहा करते थे वो लिखते बहुत बढ़िया उनकी लिपि बहुत बढ़िया है कविता बहुत बढ़िया है हिंदी बहुत बढ़िया है व्याख्यान बहुत अच्छा देते हैं जब इसमें आया विश्वासामृतम पीतवा सिद्धि कलम रुक गई बोले तो अच्छा महाराज एक बात बताओ इस पर भी विश्वास करना पड़ेगा हाँ, मैंने कहा हाँ अब गुरु पर साथ तब थोड़ा विश्वास करोगे तब ना आगे बढ़ोगे तो तक बोले फिर हमारा वही विश्वास अच्छा है हैं? हम तो वही निकुंजामृत का ही आस्वादन करेंगे हैं? राधा कृष्ण के नित्य समागम का सुख लेंगे हम इस पर विश्वास नहीं करेंगे फिर वो चलेंगे विश्वास विश्वास शब्द का अर्थ या निश्चय है ना विश्वास माने सात मत दो वी माने विगत श्वास माने सात हाँ ये ऐसा सत्य है जिसमें प्राण स्पंदन की भी मन न हिले ये तो कहना ही क्या बुद्धि न हिले ये तो कहना ही क्या तो इसमें प्राण भी न हिले ऐसा सत्य है बोला इसका नाम है स्वतंत्र अच्छा सत्य धर्म कर्म विशेष

पहले आपको अलग से जैसे दृष्टा या ब्रह्म अपने को जानते हैं आप खाना पीना तो नहीं बोलते हैं आना जाना अपना जो पारिवारिक व्यवहार है उसका परिन्यास नहीं कर रहे कोई सन्यासी भी जब अपने को दृष्टा या ब्रह्म जान लेता है तो कोई वो इच्छा मांगना भोजन करना तो नहीं तो है ऐसे ही आपका जो धर्म संबंधी और भक्ति संबंधी जो व्यवहार है वो आपको छोड़ना नहीं चाहिए चला रोज सवेरे उठिए अपने नित्य कर्मियों में उनको कीजिए सूर्य को नमस्कार वो प्रकाश कहाँ से होता है आपकी आंखों को रोशनी देता है अपने माता पिता को प्रणाम कीजिए उन्होंने आपको सही दिया अपने गुरु जी को नमस्कार किए कीजिए और उन्होंने आपको ज्ञान दिया दृष्टा और ब्रह्म अपने को जानने का ये मतलब नहीं छाती तल जाए कि अब मैं किसी को नमस्कार भी नहीं करूंगा तो आपके जीवन की जो मर्यादाएं हाँ, उनका उल्लंघन मत कीजिए इससे आप में सदगुण बने रहें विनय बना रहेगा उदारता बनेगा आपके पास पैसा है तो दान आपके पास श्रद्धा शक्ति है तो भगवान की पूजा दीजिए माला देंगे आप जाके दुकान पर व्यापार में झूठ बोलते हैं तब तो आपके दृष्टापन में कोई फर्क नहीं पड़ता बेईमानी करते हैं तो फर्क नहीं पड़ता और कहो कि अब तो हमको ब्रह्म ज्ञान हो गया तो अब हमको पूजा पत्री संध्या वंदन अग्निहोत्र करने की क्या तो वो तो आपका पारिवारिक व्यवहार है जैसे आपके परिवार में माता पिता हैं पति पत्नी हैं वैसे आपके परिवार में भगवान भी हैं राम भी हैं कृष्ण भी हैं शिव विष्णु भी हैं वो तो आपके परिवार के आपके परिवार के देवता हैं उनको तो नमस्कार करना पूजा करना भगवान का नाम लेना संध्या बंदन करना भोग करना उसके छोड़ने से आप ब्रह्म हो जाएंगे कि दृष्टा हो जाएंगे या उसके करने से आपके दृष्टापना या बना में कोई फर्क पड़ जाएगा ये सोचना बिल्कुल गलत है तो रोज थोड़ा सा समय अपने नित्य कर्म के लिए निकालना चाहिए पवित्र होते आप थोड़े दिन करके देखो सब मालूम सूर्य बंदन समाचार समझ रहा है हाँ, उसमें आपके गुरु जी बैठे हैं उनके चरणों का अमृत आपके शरीर पर गिर रहा है आपके ब्रह्मरत्न में प्रवेश करता है भीतर रो रग रग पवित्र हो जाती है बाहर रोग रोग पवित्र हो जाता है अब से पहले के जितने पाप ताप हैं वो समृद्ध की धारा में शुद्ध हो जाते हैं आप बैठ के थोड़ी देर भगवान वेदांत ज्ञान का अर्थ ये नहीं होता है कि आप चाहे जो खाएं जो पिए जैसे रहें स्वच्छंद रहें उच्छृंखल आचरण वेदांत का अर्थ तो नहीं होता आजकल हमारे कई सज्जन जो है उन्होंने कहा कि अब बड़े बूढ़ों का जमाना गया वो तो हमारे देने बनने वाले हैं ये जो नौजवान है ना युवक हैं युवती हैं तरुण हैं इनको जरा सेक्स की बात समझावे तो वो सेक्स में ब्रह्म ज्ञान का अनुभव करेंगे उनको खींचने के लिए हो तो अब जैसा दुख होता है वैसी बात बोलनी पड़ती है आप बिल्कुल अपने को ठीक ठीक रखिए मर्यादा के अनुसार जब भी कीजिए पूजा भी कीजिए पाठ भी कीजिए अपने व्यापार के समान अपने पारिवारिक जीवन के समान गुरु और देवता को भी नमस्कार कीजिए वो आपका पारिवारिक जीवन है अब ये कहो कि हम अपने को ब्रह्म निश्चय कैसे करें एक महात्मा से किसी ने कहा कि तुम तो अपने को ब्रह्म क्यों कहते हो तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम अपने को हिंदू क्यों कहते हो तो महाराज हमको लोगों ने बताया है कि हम हिंदू हैं अच्छा अपने को ब्राह्मण क्यों कहते हो हमको लोगों ने बताया है कि ब्राह्मण ब्राह्मण तो प्रत्यक्ष नहीं है वो आंख से ब्राह्मण पना नहीं दिखता है मन में कल्पना ही होती है नामा क्यों कहते हैं लोगों ने अच्छा हमारा नाम मोहन है सोहन है ऐसा तुम क्यों कहते हैं लोगों ने मेरा नाम रख छोड़ा है अच्छा मैं पति हूँ मैं पत्नी हूँ ये तुम क्यों बोलते हो एक बात के कारण ऐसा क्यों तो हम अभी आपको ये कहते हैं कि आपको आत्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ मानते हैं आपको ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हुआ ये मानते हैं लेकिन आप गुरु वेद शास्त्र प्रथम राज्य